वैवाहिक सिद्धांत से यह श्लोक इस बात को कह रहा है छह दर्शन उसके अंदर ले लिए जाते हैं और मोक्ष ले ली जाती है लघु सिद्धांत पाणी की सूत्र सब लगाने के बाद तत्व की दृष्टि से किसी शास्त्र की व्याख्या करी जाती है दूसरा रस तत्व रसिका छात्रों में विभिन्न संप्रदायों के अंदर उन्होंने अनुगत्य ग्रहण करा उस अनुगत्य में जिस रस से मिली रस पद्धति की प्राप्ति उनको हुई उस रस पद्धति को पुष्ट करने के लिए वह शास्त्रों के अंदर अपने भाव से अपने ही सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए रस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए इसकी चर्चा देखो जैसे गौड़िया संप्रदाय के अंदर श्री मधुसूदन दास हुए हैं उनकी राधा शिवान जी के ऊपर टीका मुख्य मानी जाती है राधा बल्लभ में दस क्रियाधार जो हुए हैं उनकी टीका को मुख्य माना जाता है क्यों क्योंकि वहां उन्होंने सहचरी जो है उनका जो सिद्धांत है राधा बल्लभ का उसको पुष्ट करने की कोशिश करी है यहाँ पर हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर मंजरी जो है देखो सहचरी में अंतर है किंकरी में अंतर है अनुचरी में अंतर है जो सहचरी है वह राधा रानी की सखी है जो अनुचरी है वह राधा रानी की दासी है जो किंकरी है उसके पास ऐसी कोई सेवा नहीं होती है तो हाथ जोड़ के खड़ी होती है की प्रभु किस क्षण आप आदेश करें कि कौन सी सेवा यहाँ बची हुई है जिसे मैं कर दू अलग है अनुचरी अलग है सहचरी अलग है तो सहचरी का भाव राधा जी का भाव है अनुचरी का भाव जो है तो ये रस तत्व तो देखो राधा रानी के समक्ष यहाँ बैठ के नाथ तत्व की हो सकता है राधा रानी की उस गौरव प्रेरणा के अंदर चर्चा राधा रानी के उस निज वृंदावन के अंदर रस तत्व की चर्चा मिली होती है रस तत्व की भी चर्चा देखो क्यों रस तो यहाँ पुष्प होता है ना जब यहाँ से पुष्टता हो जाएगी तब वृंदावन का अब ये राधा सुधा नदी में इतनी लड़ाइयाँ चलती है कोई कहता है हमारे संप्रदाय से है कोई कहता है हमारे संप्रदाय से है श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित जो राधा सुधा निधि है ये हमारा है या उनका है या इनका है अरे बाबा मेरा आज से पचास साल पहले ना यह कथा भी प्रकाशित हो चुकी है एक कानपुर का एक भक्त था वह कानपुर का भक्त महाराज उसने रामचरित मानस का नौ बार पूरा पारायण करा पूरा करा पूरा पाठ पाठ करने के बाद श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई श्री हनुमान उसके सामने प्रकट हुए प्रकट होने के बाद जब उन्होंने पूछा कि बस तुझे क्या पाठ चाहिए उस समय पर उस गए चौबीस पच्चीस साल का नवयुवक था उसने कहा कि मुझे तो राधा रानी के दर्शन हनुमान जी बोले भैया उनके दर्शन तो हमको भी ना है देखो तुम वहां पे हनुमान जी का गोपी भाग नहीं है ना वह गुरु वृंदावन के अंदर गोपी भाग भी धारण करके आया था इस वृंदावन में राधारानी की प्राप्ति का एक मात्र सूत्र है कि पुरुषों को भी जब तक पहले अपने अंताकरण में ठीक कारण नहीं कि तो गोपियों की तरह से कपड़े पहन लिए और चलिए शक्ति बन गया मैं अनुशक्ति बन गया नहीं अंतकरण के अंदर अगर तुम गोपी का भाव अपने अंदर इस्तेमाल कर लोगे तो राधारानी हुई नहीं नहीं तो नहीं मिलेगी वहां पुरुष नहीं होता पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है वृंदावन तो यहाँ भी हनुमान जी दास्य भक्ति है माधुर्य भक्ति के आचार में नहीं है वह गति पुरुष है तो उस पुरुष गति बलशाली है कल ये सौम्यता स्त्रियों में होती है मन जो होता है पुरुषों का प्रधान है यहाँ महाराज हनुमान जी के अंदर बल है वह पुरुष ये अपने रखते हैं छोड़ते नहीं है तो हनुमान की प्राप्ति है श्री हनुमान जी ने कहा कि दीदी वहां की बात की हो रही है बोले तो फिर मुझे यह बता दीजिए कि कैसे मैं राधा रानी से मिले उस समय पर हनुमान जी ने कहा एक धाम वृंदावन है उस वृंदावन के अंदर श्री सेवा कुंज है उस सेवा कुंज के अंदर अगर तू चला जा और जाके श्री राधा रानी को करुणा से पुकार राधा रानी की कृपा के रूप में हो गए वह नवयुवक कानपुर से भागा भागा यहाँ वृंदावन आया एक श्रोणी आश्रम हुआ करता था सन्यासियों का वहां पे आके उससे पूछा भैया आज्ञा मिली है ये सेवा कुंज जाना है राधा रानी की प्राप्ति के ये सेवा कुंज कहाँ है उस समय पर एक सन्यासी थे उन्होंने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं हम जानते हैं हम तुमको ले चलेंगे सन्यासी ने उस लड़के को लिया लड़के को लेकर चलने लगे चलते हुए थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे बढ़ने के बाद एक रास्ता चल रहा था स्वामी कुमार वाल्मीकि का उस कुमार जी के रास में वह सन्यासी प्रसिद्ध यात्रा के रास देखने के लिए तो रास के स्थान पर पहुंचे उस रास स्थली पर पहुंचे पहुंचने के बाद इन्होंने सन्यासी ने लड़के से कहा यार मैं तो विश्वास करिए कि तुझे भगवान जी की कृपा मिल गई तू तो छूट दो सब छोड़ा है यहाँ तो सन्यासी रह गए दिगंबर रह गए बाकी बात हुई अब तक ना भगवान जी की गई ना राधा जी की ना राम जी की गई तुझे अभी से सीधा ऊपर में दिख गए हमें तो विश्वास ना है विश्वास तभी हुए तो अगर यहाँ जो राधा कृष्ण बैठकर जो रासलीला कर रहे हैं वहाँ वह राधा राधा कृष्ण का भी भोग लग रहा है अगर वह राधा रानी तुझको बुला के अपना वह हाँ, वह बीड़ी प्रसाद तुझे दे दे तो हम मान लेंगे कि तेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो चुकी यहाँ यह बोला मैं सन्यासी जैसे ही बोले ठीक उसी उसी समय वहां से अंदर से कोई एक कर्मचारी आया कर्मचारी लगा ले ये बात जो मुझे राधा रानी बुला रही है श्री प्रिया जी बुला रही है महाराज जैसे ही बोला प्रिया जी की तरफ गया और प्रिया जी ने उसे पेड़े का प्रसाद दे दिया हाँ अपना पीढ़ी अपना प्रसाद उसको दे दिया वो लेके बाहर आया बाबा को दिखाया प्रापंचिक हो गए तेरे तो अंदर विश्वास हो गया कि क्या कहीं तुझे हनुमान की प्राप्ति पूरी पूरा दास देखने के बाद अब वह महाराज चलते हैं सेवा कुंड पहुंचते हैं संध्या की आरती हो गई है संध्या की आरती के बाद वहां पर जल्दी शयन हो जाती है दिल्ली में तो सेवा कुंड में जब शयन होने को भी मैं केवल पूरा रात्रि को तो मैं यही रुकूंगा बाबा बोले पागल है क्या किसी ने देख लिया तुझे पार कर देंगे तुझे तो कुछ भी हो जाएगा रात्रि को सिर्फ यही नहीं रुकने लड़ लिया झगड़ लिया सन्यासी चले गए सेवा कुंज में जैसे तैसे करके छुप के बैठ गया सब सेवा कुंज के द्वार बंद हो गए महाराज ये बैठे भजन करने लगा भजन करते करते करते करते रात्रि को कब निद्रा आ गई और निद्रा आ जाने के बाद जब अब महाराज निद्रा आ गई श्री राधा रानी उसके स्वप्न में प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद कहती है कि अभी तो मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का अधिकारी नहीं है कि तू मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का अधिकारी नहीं है लेकिन ये एक ग्रंथ देती हो इसका पाठ कर ले इसका पाठ करेगा तो तू मेरे दर्शन का अधिकारी बन जाएगा महाराज तो से अदृश्य हो इसकी निद्रा युवक की और युवक ने जैसे ही आंख खोली तो उसके सामने रखे हुई थी श्री राधा शिवा तो मामलों में समझ गए अब जाके उस कानपुर के उस भगत के पास जाके लेके आओ कि गौड़ीय संप्रदाय के दो सौ बहत्तर श्लोक उसमें लेके हैं कि दूसरे संप्रदाय के श्लोक उसमें लिखे हैं क्योंकि वह प्रसादी वह ग्रंथ तो श्री राधा रानी के द्वारा दिया हुआ था वह संप्रदाय से ऊपर महाराज पुष्प दंड जी महाराज का श्री पुष्प दंड उन्होंने शिव महिम स्त्रोत्र की रचना करी शंकर के जो भक्त होते हैं वह इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई स्त्रोत है तो वह शिव महेंद्र स्त्रोत है उसके अट्ठीसवे उनतालीसवें श्लोक में वो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस शिव महेंद्र स्त्रोत को याद कर लेता है याद करते ही उसे भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है उनकी प्रसन्नता प्राप्ति हो जाती है याद करके बोलते भी नहीं सिर्फ याद करके एक बार दंत को महाराज मन में अहंकार आ गया अरे बताओ हमारा ऐसा स्त्रोत्र है हमने ऐसी रचना करी है शिव इंद्र के अंदर में लिखा है आखिरी के श्लोकों में दो श्लोकों में इस श्लोक का भगवान शिव जी के प्राप्त कर लेते महाराज यहाँ अंधकार आ गया बताओ हमसे बड़ा रचयिता को भगवान शिव ने बड़े प्रसन्न होकर उसे बुलाया अरे जरा पुष्प को कैलाश को बुलाया जाए महाराज बड़े प्रभु ने कहा देखो आज का भगवान स्वयं भगत को बुला रहे हैं कहा आओ आओ दर्शन देना चाहते हैं पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट है इतने बड़े भक्त हैं उनके पूरे निकाल से भरे हुए घर में श्री कृष्ण कैलाश पे पहुंचे और कैलाश पे पहुंचने के बाद वहाँ पे नंदीश्वर थे नंदीश्वर से बोले की शिव ने बुलाया है जिसे उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त जो श्री कृष्ण बनते वह आया है यह बात सुनकर नंदीश्वर हंसने लगे और जब हंसने लगे तो देखा हाँ, श्री पुष्प दंडने की पूरा जो शिव महिम में स्त्रोत्र था वह एक एक दाप में लिखा हुआ था नंदीश्वर एक एक रात में शिव महीन स्त्रोत्र तो लिखा आश्चर्यचकित हो गए ये कैसे लिख रहा है भगवान शिव के पास गए अहंकार आधा हो गया अंदर पहुंचे अंदर पहुंचे हाथ जोड़े जोड़ने के बाद महाराज को नंदीश्वर के दांतों में खाना ये है इसके तो चिन्मय है चिंतन है यह तो इस बार तेरे ऊपर तुझे कृपा करके पुष्पतन को बना दिया और तेरे ही सहारे मैंने अपना वह चिन्मय जो इसको था उसको मनुष्य को दिया दूसरा रचयिता नहीं है ये संप्रदाय ने लिखा वो संप्रदाय ने लिखा और बहुत मजे की बात श्री भद्रा सखी का यह स्तोत्र जो है सहचरी महात्माने भी सहचरी महात्मा को ढूंढते हैं तो कई श्लोक ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर सहचरी महावी गई है मंजरी गौड़िया संप्रदाय में जब हम मंजरी भाग ढूंढते हैं तो कई जगह पे ऐसा भाव आता है पूरा मंजरी भाग भी है व्यासदेव किसी संप्रदाय से तो नहीं आते श्री तो सखी जो है हाँ वह वह किसी वह किसी संप्रदाय से तो नहीं है तो वांग्मयी शास्त्र ये राधा रानी का शास्त्र राधा रानी की प्राप्ति किस शास्त्रों से होती है दो शास्त्रों से राधा सप्तशती के अंदर जब ब्राह्मण चंद्रा सखी के पास पहुंचा तो चंद्रा चंद्राना सखी से उसने यह पूछा कि श्री राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी तब चंद्राना सखी ने राधा सखी के अंदर कहा कि अगर तू राधा कृष्ण की और बरसाने वाली राधा कृष्ण की अगर तू कृपा चाहता है तो तू श्रीमद भागवत का पाठ बरसाने के अंदर बहुत बहुत प्यारा करते हैं श्री राधा हाँ, सब सती जैसे दुर्गा सब सती है ऐसे श्री राधा सब सती थी बहुत प्यार बरसाने की तो उसके अंदर बहुत महत्व जुड़ा हुआ है ब्राह्मण बालक था दादा कन्हैया से मन खराब हो गया कन्हैया की शिकायत करने के लिए बरसाना आने लगा एक जगह कहीं पर जाके रोका भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया अच्छा तो अपनी शिकायत कर रहे हो ब्राह्मण को लोटे ही सब बचे हुए भैया गर्मी कपड़े सोती मेरे सब खाए भेज दियो खाने के खा जा रहे रानी के बाद बहुत सारी शक्तियां बल्लाऊ भैया के पास चलोगे एक वीडियो के रसगुल्ला बन रहे हैं हाँ, और बड़े प्यार से सुनेंगे और एक बार कह देंगे कन्हैया को बात बस उनके पास जाए उनके बनाए रोने ना तो के अंदर बहुत बड़ी कथा है इस बात की बहुत बड़ी कैसे कन्हैया उसे बरसाना आने नहीं दे रहे थे उसकी पूरी कथा है ठाकुर जी उसके सामने प्रकट होते प्रकट होके कुछ ऐसी चीज दिखा देते उसका मन विचलित हो जाता बोलते अरे यार ये तो बहुत खराब आती है या ऐसी झांकी दिखा देते जिसमें राधा कृष्ण लड़ रहे हैं हर कठिया लड़ रही है तो ऐसा भाव उसमें आ जाता अरे राम देखो राधा रानी और उनकी सखियां तो लड़ रही है इनके पास जाके मैं कैसे गाय करूँ गोपाल पालती देखो एक तत्व की चर्चा है एक रस तत्व की चर्चा उसने जब नाम में या श्री राधा रानी के नाम में समित महल के अंदर न तत्व की चर्चा हो सकती है न रस तत्व की चर्चा हो सकती है यहाँ तीसरी चर्चा हो सकती है लीला तत्व की क्योंकि रस से दान के यहाँ कुछ नहीं करना है गीता के अंदर रस स्वयं में देना श्री राधा रानी कृष्ण की कथा कहती है कृष्ण श्री राधा रानी की कथा कैसी कथा देखो भागवत का एक एक श्लोक बड़ी बड़ी कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए था समुद्र है भगवान श्री कृष्ण सात वर्ष के हो चुके हैं वैशाख में उनका परामर्श हुआ कि अच्छा जरा अब गोपियों को बुलाते हैं वैशाख पूर्णिमा पर गोपियों को राधा रानी को बुलाते हैं फिर जरा देखते हैं कि राधा रानी क्या कहती है बांसुरी हाथ में पहली बार आई थी इसको कृष्ण ने बांसुरी बजाना थोड़ा सा सिखा दिया था तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं राधा रानी को तो बुलाने के लिए महाराज पहली बार बांसुरी बजाई वैशाख पूर्णिमा पर और वैशाख पूर्णिमा पर प्रथम बार बांसुरी बजाते ही राधा रानी ने उस बांसुरी को सुना और सुनते ही वही बेहोश हो गई और जितनी भी गोपी आती है बाकी बाकी कृष्ण के सामने आने गई गोपालचंद को कहकर बड़ी क्या भगवान बोलेगा देखो अनवांटेड विजिटर है one confused. Usually, Ulayana तो एक two या तो अनेक आ गई और जो एक ही कोई ना आई राधा रानी को बुलाया हो राधा रानी ना आए हैं रोज रह के नहीं गिर पड़ी बाकी की सब की सब घर परिवार छोड़ गया राधा रानी गाय दिखी इतनी सारी दिख गई लगो सर में का बवाल आ गया बोले तुम क्यों आई तो तुमने बुलाया कन्हैया बोले मैंने तो राधा शब्द को राधा नाम को मैं तो राधा को बुलाया तुमने हमको बुलाया चलो रास करेंगे नाच रहा है आंगन नाच रहा बने

सखियां वहाँ पे रांची मिल गए यहाँ पर ठाकुर जी श्री प्रिया जी के संग खेल रहे हैं पहलो खेल भयो तो कन्हैया हार गयो दूसरो खेल चालू भयो फिर कन्हैया हार गयो अब तीसरो खेल चालू भयो वह गेंद को फिर कन्हैया हार गयो अब चौथो फिर चालू भयो कन्हैया बोलो अब तो जीत के वो पास में जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करने वह सखी जी था हाँ, कृष्ण स्नेहा विदा सखी जरा पास में गई और जाके उसे कहो हे कन्हैया तू राजी करो एक काम कर ले लोगों नृत्य करेंगे तुम तो बहुत झूठ को बापू जमाने ऐसे मंत्र मारे हो राधा रानी को तुम नहीं और राधा रानी कैसी थक गई है तुम नाच ना सके तो पीले इतनी कोमल रही है ना सके तू ऐसे ही जीत के आए हो तो महाराज भगवान कृष्ण बोले हाँ ये बात तो सही है भैया भैया तो ठाकुर तो बोले अच्छा सुनो सुनो सुनो अब जीत जो होगी वो मानी जाएगी जो जीत जो होगी वह मानी जाएगी नृत्य करके और अगर नृत्य में अगर हम हारे तो अपनी बांसुरी दे देंगे ललिता सखी बोली कि अगर मेरी प्रिया जो हारी तो प्रिया जो एवं समस्त उनकी सखियां तुम्हारी दासी बन जाएगी महाराज कन्हैया बहुत अच्छी शुरू हो गई है क्या शर्त लगी देखो बहुत चालू है ना मोबे भूषणे ध्वनि ना नाड़ी में चीर द्रुत गति चौड़े ना बाजी में मोती राधा रानी के सामने क्या शर्त तो रखी मालूम है देखो ऐसा नाचना है कि जब तुम नाचो तो तुम्हारे आभूषण एक दूसरे में फंसे नहीं और ना नाड़ी के चीज तुम्हारे वस्त्र जो है वह एक दूसरे में उलझे नहीं विष्णु सौंदर्य काले बाजाई तो कौन सी धनु अंक माधे ना योजित ध्यान रखना ऐसी वैसी किसी तालु पे नहीं नाचना है ऐसा कोई मेरा खुदी नहीं देखना है मैं कोई विषम तालु में जाऊंगा जो शास्त्रों के अंदर भी नहीं लिखी है सामवेद में भी नहीं लिखी है कहीं कोई रात रात भी उस तरीके की प्रकट नहीं हुई है मैं ऐसी कोई रात गाऊंगा ऐसी कोई ताल बजाऊंगा उस ताल में तुमको नाचना है याद है ना आभूषणों की कोई आवाज हो तुम्हारे आभूषण में ना श्री राधा रानी की पायल जो होती है ये सबसे ज्यादा आवाज करती है रास के अंदर अगर दो दो की आवाज सबसे ज्यादा आती है श्री राधा रानी की मुकुल की श्री राधा रानी की पायल की और भगवान श्री कृष्ण की बंसी की सिर्फ दो की आवाज होती है राक्षस तो यहाँ पर भी क्या शर्त रख दी स्त्रियों का भैया जब सूर्य स्वीकार करके चले तो चूड़िया सबसे पहले खंडेर पाए सबसे पहले बजे हाँ कड़कनी अपने पे लगा ले तो वो भी उसके भी गुरु बोलते हैं भाई यहाँ पर तो क्या गजब की शर्त रखी है कि भैया याद रखियो प्रिया जी ऐसो नाचनो है तो कि ना तो एक आभूषण बजे और ना तुम्हारे कोई भक्त बजे है ऐसो नाच सको तो बताओ और नाय नाय नाच सको तो तुम हार गए हमारी काशी कर जाओ तो ललिता सखी आ गई तो हमने आके कहो अरे मैं नाच सके नाच के देगी हाँ? ये नृत्यश्वरी है नृत्य तो यहाँ खड़ा होकर लज्जा मांग रहा है जब श्री राधा रानी नाचती है कन्हैया को तो भी देखे हैं कैसे नाचे कन्हैया ने बिसावन आग बिसावन आग बजाती जीवन तो क्या कभी एक शब्द और लगी वहां एक गोला खींचा गया उस गोले को आधा कर दिया गया अर्ध चंद्रा का और बोले कि ऐसे नाच रहा है कि आधे चंद्रे में ही नाचती हो एक कदम ही बाहर ना जाए एक कदम बाहर ना जाए अर्ध चंद्र आकार झूले में तुम्हें नाचना है तुम्हारे आभूषणों की आवाज ना हो और तुम्हारे वस्त्र हिलने की कुछ में नहीं तो नाच सकते और दाल बिल्कुल सही बैठी नाचने वाले की प्रयोग बिल्कुल सही होनी चाहिए तो मालूम चल जाए ललिता सखी ने अपनी लड़की राधा बोली इनको देखो जाए तो बरसाने की लाज रखी गई है कन्हैया ने तो कहते कह दियो हारिए कुमार लोग ईश्वर क्रांति तुम अगर हार गई तो तुम्हारी वो जो नाक की बेसर बेसर है ना वह सब में नहीं हाँ भाई अगर स्त्री की बेसर जो इसकी नाक होती है इसकी इज्जत होती है तो मैं बोल रही हूँ ध्यान रखना इस बात को राधा रानी भी बोली कि अपना नृत्य ही भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन करा विषम जितना किसी सामवेद किसी किसी शास्त्र के अंदर संगीत शास्त्र के अंदर लिखी है मेरी राधा रानी उस अर्थ चंद्रा का गोले में पहुंची और पहुंचने के बाद ऐसा नृत्य करा ऐसा नृत्य करा ना महाराज उनके आभूषणों से आवाज हुई ना उनके कोई वस्त्र मिले और ना वह उस अर्धचंद्राकार गोले से बाहर सब सखिया सब गोपियां उल्लासित होते हुए बोली तारा तेरह नंबर है हमारी राधाई में तो यह जो टेस्ट हो तो पास पास अब तेरह नंबर है तू आ जाना है हमारे यहाँ पास तो महाराज लाल जी को तो आधे वसीला देने लगे और पसीना देते देते ललिता सखी आई और ललित को ललिता सखी जो है ना की या राधा कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं वह राधा ललिता सखी उसका प्रमुख है ललिता सखी ही राधा रानी से लीलाएं करवाती ललिता सखी बड़ी है और अगर कविता संगीत को कुछ कहते आदेश भी देते हैं श्री राधा रानी को भी भैया तुम्हें मान रखना है तुम्हें बात नहीं करनी है राधा रानी के अंदर कितनी भी लालसा हो श्री लालू जी से बात कर लेगी परंतु वह प्यारे से बात नहीं करेगी जब तक श्री ललिता से ही आज्ञा न देते देगी जाओ बात कर की रस समृद्धि करने के लिए रस वृद्धि करने के लिए श्री ललिता सखी रस की रस महोत्सव की वहां पर उनका कंट्रोल रहता है और यहाँ ललिता सखी तो लाल जी के सामने शर्त रखी जो आधे आधे पसीना दे रहे हैं क्या शर्त है ना नड़ीवे क्षुद्र भंती শ্রবণের কুণ্ডল না নড়িবে নাসার মতি নয়নের ये तुमने कान में पहने हुए है ना ये नहीं हिलने चाहिए ध्यान रखना ये जो तुमने कमर में बेल्ट पहनी है छोटे अंगिनाएं उसमें लटकी हुई है बजनी नहीं चाहिए आवाज भी आनी चाहिए लाल जी ध्यान रखना ये जो मौत का ये है जो नाक तुमने मोती लटका रखा है ना हिले नहीं गिर गया तो हार जाओगे सखिया है रानी की सखिया है जब कन्हैया टेढ़ो हो सके तो सखिया तो और ज्यादा टेढ़ी हो सके भले न मुक्ता नासिका कुंडल श्रमण दोए यही विधि नाचो प्यारे जो विजय आपकी हो वो विजय आपकी हो ध्यान रखिए ना कुंडल हिले ना नासा मुक्का तुम्हारा मुंह भी और सबसे बड़ी बात जो है वह चित्र घंटी में आवाज नहीं कर लेते और तुम्हें ध्यान नाचो नाचो हम कोई बोला बोला नहीं नचेंगे तुम्हारे कलिया बोले चलो आपकी लेसन में काम कर देंगे कोई कड़वी कड़वी ना खींची है बीवी नाच सके अब ललिता देखो अब क्या मेरे बात है देखो राधा रानी इस वक्त को तो देखेंगी राधा रानी को सिर्फ देखेंगी ललिता अजय वीणा विशाखा मृदंग ये सब कन्या है ललिता ने तो आरा वीणा उठा लिया और विशाखा ने मृदंग ले लिया सुचित्रा बाजाए सप्त स्वरा राई देखे सुचित्रा तो ने महाराज शब्द सदा मात्र ले लिया और राई माने हमारे बंगला के अंदर राई राधा रानी को कहा जाता है तो राई देखे बोले यह गोपियां तो बजाएंगी परंतु राधा रानी इंस्ट्रक्शन करेंगी तुम्हारा कि तुम सही नाच रहे हो कि नहीं नाच रहे हो ठाकुर जी बोले हाँ, हाँ, अरे हमने बड़े बड़े हराए हुए तो चीज और को छोड़ा तो, तो मां तो बोले ब्रजवासियों के अंदर तो पुरानी आदत हो तो गई मां ना बोलने अरे चीज में कैसे आए महाराज दरबार की मैं लीलाओं था कि यहाँ विशाखाने में मदद ले लिया को तो सुना देगी हम तीनों ने वहाँ बजाना चालू करा हमारे भाई हमारे इंस्पेक्शन कर रही है देख रही है कैसे नृत्य करने वाले हैं मेरे प्यारे और मेरे प्यारे के जैसे ही नृत्य चालू करो ना ताल बैठ रही है ना छाप बैठ रही है ना नाच पा रहे हैं यहाँ से आवाज आ रही है वहां से आवाज आ रही है ये आप दिख रहे हैं ये चुप रहेगा सिर्फ आवाज निकल रही है अरे कन्या ठाकुर जी ने देखो मैं तो हारने का वो सब सखियां हंस रही है तो तुम दबा कर भागने लगे बंसी पकड़ो बंसी पकड़ के भाग रहे हैं ललिता के शाखा ने गेरा बदल छोड़े कन्हैया के पास आगे अरे लाला जा रहे गाय घड़ा ये लीला ये लीला

नाचियों में तो राधा से नृत्य सीख और जब तक नृत्य नायक सीख रहे हो तब तक राशि नहीं सके यहाँ साढ़े चार सौ साल पहले एक लीला बनी श्री बांके बिहारी के परम भक्त श्री हरिदास स्वामी एक बार गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए चले वृंदावन से परिक्रमा लगाते लगाते हैं गोविंद कुंड के पास पहुंचे और गोविंद कुंड के पास पहुंचने के बाद वहां उन्हें गोविंद स्वामी जी से भेंट हो गई यह दूसरी संप्रदाय में अशिक्षात कवि है श्री बल्लभ संप्रदाय श्री बल्लभाचार्य का जो दूसरी संप्रदाय है उसके अंदर अष्टछाप उनकी बहुत बहुत रचनाएं हैं बहुत प्यारी रचनाएं की है यह अष्टछाप कवि का एक मुख्य कवि कहा जाता है श्री गोविंद स्वामी बहुत लीलाएं करी है श्रीनाथ जी ने उनके साथ तो हरिदास स्वामी जैसे ही वहां पहुंचे गोविंद स्वामी से मुलाकात हुई हाथ जोड़ के पूछा जैसे आप बढ़िया हैं कैसी दिनचर्या चल रही है आपकी गोविंद स्वामी बोले आजकल तो गोकुल में कद गा के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं हरिदास स्वामी ने पूछा अकेले गाते हो कि कोई और भी आता है गाने के लिए तुम्हारे से तो हम अकेले ही गाते कभी कभी कन्हैया चलवाए तब हरिदास जी ने पूछा कन्हैया आके देखता है तुम्हारे गानों में नाचता है कि तुम्हारे संग गाता है तो स्वामी गोस्वामी को अरे कन्हैया आवे और मेरे से बैठे गाता तब हरिदास स्वामी ने पूछा कैसा गाता है तो यहाँ गोविंद स्वामी बोले राग तो वही है जो हम सब गाते करते हैं महादेव बहुत बहुत उनकी जैसी आवाज किसी की भी नहीं है यह बात सुनकर हरिदास जी थोड़ा सा फंस गए अच्छा गोविंद तो स्वामी ने कौतूहल वश पूछो आप जे क्यों महाराज तो गोविंद हरिदास जी ने बोलो जब आपने मधुरता की सीमा भगवान श्री कृष्ण की वाणी से आपने निर्धारित कर दिए कि उनसे ज्यादा कोई और मधुर गा ही ना सके बोल ही ना सके तो मैं क्या बोलूंगा गोविंद स्वामी बोले जय जय बोलो तो सिर्फ क्या मन में बात है बोले कभी राधा रानी की भी आवाज सुन बोले महाराज ले चलो मुझे अभी सुना दो राधा रानी की आवाज कैसी है वो हाथ जोड़ के हरिदास स्वामी बोले कि तुम्हारे गुरु श्री नाथ जी आप है सर्व संपन्न है आप उनके पास जाओ वह आपको श्री राधा रानी के पास गए यहाँ अभी सब शरद पूर्णिमा की उस निज वृंदावन के अंदर तैयारी चल रही है

यहाँ ताप लगा के राधा रानी ने रास से पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी शर्त क्या थी कि देखो चार तरीके के देवियों में भाव कहे गए हैं पहलो भाव है कदैता भाप दूसरो है मदैता एक में भाप श्री राधा रानी को है कि तुम मेरे हो कन्हैया से कहेगा तुम मेरे हो एक तरफ चंद्रावली को भाव है मैं आपकी दोनों में अंतर है एक में तो स्वामित्व नजर आवे ध्यान रखिए तो हमारा यहाँ अधिकार है चंद्रावली में मैं आपकी वहाँ अधिकार नहीं है वहाँ कन्हैया को अधिकार है जैसे बोलो कैसे करेंगे तीसरा है भाव तत्व भाव तीसरा भाव तत्व भाव इस भाग की जो गोपियां होती है इन्हें तो बस कृष्ण से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है अरे हम तो आम खाएंगे दुखी उठी रह देख रहे कौन से कहा से है ये खा ये वो वाले भाग कौन आए हो कौन मरो कौन जियो हमें किसी से मतलब ना है हमारा तो नहीं है वही मैंने एक चौथा था श्री यमुना जी के अंदर ये रहा जब रास के अंदर बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजा देते हैं बजाने के बाद जब सब गोपियां भागी भागी आती हैं तो सबसे आखिरी जो गोपियों की मंडली जो आखिरी यूथ होता है तो शास्त्र में आता है श्री यमुना जी का होता है यमुना जी सब गोपियों को सब गोपियों के युद्धों को सबसे पहले वहां भेजती है जब सब वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद आखिरी में वहां उस स्थान उस राजस्थली में सबके तक सामान में सब संभाव में और लेकिन सभी को में यमुना जी का भाव तो राधा रानी ने राधा रानी ही चारों भावों में प्रतिष्ठित है राधा रानी ही चारों भावों में प्रतिष्ठित राधा रानी ही राधा स्नेहा देता है राधा रानी ही कृष्ण स्नेहा देता है राधा रानी ही सब स्नेहा देता है राधा रानी राधा रानी ही जिन पर सबके समान हजारों महाविद्य तो राधा रानी ने क्या शर्त रखी भगवान श्री कृष्ण से देखो रास जब करोगे तो रास में चारों प्रकार की जब गोपियां तो रास स्थली में पहुंच जाएंगी पहुंचने के बाद चारों के संग तुम्हें नृत्य करना है और उसी समय मैं योग पीठ पे बैठी हुई होंगी तुम्हें मेरे संग योग पीठ में भी बैठना है और गढ़िया को नाचना हो तो तस्वीर नाचे तो भैया नाच न जाने आपने पीड़ा तो पर नाच को जाने का है और राधा रानी ने शक्ति विभजन किया लेकिन चारों के संग चारों प्रकार की संधियों के संगत में हर क्षण खड़े रहना है यानी कि इतनी गति से इतनी तेज गति से नृत्य करना है और उसके संग से तुम्हें मेरे पास बैठे रहना है योग योग की विकास की योग राधा कृष्ण के समक्ष सर्वभूमियों नृत्य करते क्या राधा रानी को तो गुरु बनाया ही नहीं जाएगा भागवत के अंदर कोई कथा उसकी विशेष उसमें कही गई है भगवान श्री कृष्ण ने पूरा नृत्य सीखा नृत्य सीखने के बाद आज का अपेक्षा तो आज तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखकर सर्वोत्तम मल्लिका और मल्लिका की पुष्पों को ताप हृदय देखकर भगवान श्री कृष्ण को उन राधा रानी की उस शपथ की उस बात की याद आई अरे आज तो वह दिन आ चुका है जब राधा रानी को वह नृत्य दिखाना है कि मैं चार प्रकार की सखियों के संग नृत्य करता हुआ योग तुम्हारे संग बैठ सकता और यहाँ देखो वहां दिव्य नामन मेला चल रहा है और यहाँ नीचे रास गोविंद स्वामी कह रहे हैं हमें भी रास दिखा दो अपने गुरु के पास पहुंचे गुरुदेव ने कभी शरद पूर्णिमा पे चलना शरद पूर्णिमा महाराज शरद पूर्णिमा पे गोविंद स्वामी अपने गुरु श्री विठलनाथ जी के पास पहुंचे कहा जय जय आज श्री राधा रानी के दर्शन करा दो जैसे ही चले गए विठल नाथ जी ने कहा देखो महापुरुष रूप में प्रवेश संभव नहीं है अंतः करण में गोपी भाव धारण कर लो जब गोपी भाव धारण कर लो तभी वृंदावन में प्रवेश मिले गोविंद स्वामी सखा भाव महाराज अंतकरण में सखा भाव त्याग कर टोपी भाव धारण करके गोकुल से चले मथुरा क्रॉस करते हुए जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे शरद पूर्णिमा की रात्रि थी आहा कैसा वह दिव्य वृंदावन महाराज सजा हुआ है शरद आ की शोक शरद सब पुष्प तो खिले हुए हैं जैसे ही वह पुष्पों को देखा देखते ही लगा अरे वाह मैं तो राजस्थली में पहुंचने वाला हूँ चलते चलते चलते मैं महाराज बंसी मठ पे पहुंचे और उस बंसी मठ पर मेरी राधा रानी रास चालू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेती हुई थी भगवान श्री कृष्ण से बोली नाच तो बाद में करेंगे पहले तो ट्राई होंगे दिखाते तो नाच करोगे और देखो कन्हैया नाच रोए कन्हैया संकट से नाच रोए भैया रास होने वाला है सब गोपियों के संग रास हो ठाकुरानी चाहवे आए हाँ? यह रास चालू हो जाए सब राजा तो हमारी मांग काट तेरी गुरु बनिए तो हमारा चेला बनो गुरु को सबसे ज्यादा तोहहीन करनी है गुरु शिष्य को पूरी शिक्षा दे दे और शिष्य उस शिक्षा का पालन ना करे तो यहाँ रास राशेश्वरी रास चालू होने से पहले उस धाम वृंदावन के अंदर कन्हैया से कहिए पहले तो नाच को दिखाते थे राज को राज में और कन्हैया ने नाचनों चालू कर दिए राधा बीच में खड़ी हुई है ललिता

ठाकुर जी ने ज्ञान नाच दिखाना चालू करा हाय हाय जब महाराज के रंग पे नाचे और नाच पे ऐसे घूमे द्रुत गति से मेरी राधा रानी ने पैरों को जल्दी से हिलाया मुकुट की ध्वनि करी और मुकुट की ध्वनि करते ही बोली वाह और जैसे ही कहा बोली गोविंद स्वामी जिन्होंने मधुकर लगा श्री कृष्ण की पाड़ी सुनी थी यह राधा रानी की कहा सुन रही एक पहर तीन घंटे के लिए बताओ लीला पक्ष श्री राधा को लीला पक्ष यहाँ दिया जाता दिल्ली में होए कहीं बाहर होए वहां की बात होएगी वहां तत्व की बात होएगी यहाँ तो साथ कैसे आलिंगन कर रहे हैं देखो वृंदावन के जो वृक्ष है वो लता बताए वो कल्कि महाराज ने गाथा में भागवतम के अंदर आया है कि मैं के बाद भैया लता बता लता के भेज दो कितनी सारी कथाएं आती है वृंदावन की जिसके अंदर इस बात का इस बात के सिद्धांत को रखा गया है कि जितने भी वृक्ष हैं वह भगवान श्री राधा कृष्ण के ही भक्त हैं शास्त्रों के अंदर तो यह आया है कि शांति मुनि जो है वह बेल के वृक्ष के रूप में है लोमस ऋषि जो है वह जटामासी के रूप में है भीष्म पितामह नाग केसर के रूप में है अर्जुन जो है भक्त अर्जुन जो है वह अर्जुन वृक्ष के रूप में है और जितने भी शोक रहित भक्त है वह शोक रंग रहित भक्त ही अशोक वृक्ष के रूप में है विश्वकर्मेगा पुण्या प्रभाव करा तो विश्वकर्मा है जो देवताओं के आर्किटेक्ट है मिस्त्री है प्रयोग अहम नाम का तो भगवान ये वृंदावन के अंदर एक पुष्प होता है कुंद की माला भगवान पहनते हैं वह कुंद के रूप में है और वैकुंठाधिपति वैकुंठपति मेरे महाविष्णु भगवत वैकुंठ नाथ नाथ इव सर्वदा नव तरुण कहा महाराज वह नव द्रोण का एक पुष्प आता है वह हाँ? नवक्रोड़ के रूप में वैकुंठपति यहाँ इसकी धरा इस वसुंधर धाम में इस धाम में नाम के अंदर विराजे श्री नारायण का इस श्लोक के अंदर इस पद के अंदर वात्सल्य भाव में लगा वात्सल्य क्या यहाँ पर अपना स्वामित्व स्थापित हो और उसके बाद उस दीन की सेवा करें जैसे बच्चा दीन है बच्चा कुछ काम नहीं कर सकता छोटा बच्चा माँ का उसके ऊपर स्वामित्व होता है और उस दीन की सेवा वात्सल्य रूप से करेगा यहाँ जितनी भी लता पताए हैं वृक्ष आती हैं उन सबको श्री राधा रानी की कृपा ही चाहिए श्री राधा रानी की जगह क्योंकि राधा रानी ही प्रेम होते अल्लाह के स्वरूप महाभाव तो राधा रानी ही है ना कन्हैया के पास का प्रेम है रस सागर का जो सार है वह कृष्ण है और जो बच्चे जो है हर जो जिन्हें रससार मूर्ति कहा जाता है उस रससार मूर्ति का भी अगर कोई सार है वह राधा रानी तो राधा रानी की जो बात सिंधु है वैरक्त सिंधु रघुराग सिंधु वात्सल्यसिन्धो रतिसामृतवैकसिन्धो लावण्यसिन्धो रम्रतक्षविरूपसिन्धो श्रीकार्तिकाश्वगुणे हृदये सिन्धो क्या प्यार है वेदंत सिंधु अब देखो बेरंग के माने होता है चतुर चतुर जो बोलना जो भोला होता है वह चतुर नहीं होता जो भोला होता है ये भोला ये ना चतुर बड़े से आनंद बहुत बोला है जो भोला होता है वह चतुर नहीं हो सकता जो चतुर है वह तो भोला हो ही नहीं सकता ये तो भोलेपन को नाटक है बहुत चतुर है तो हो जाए ना जो चक्र है वह गोला नहीं हो सकता है जो बोला है वह चतुर नहीं हो सकता है परंतु राधा रानी की ऐसी हाँ, ऐसा गुण है वह परम धोली भी है और परम चतुर भी है एक बार सरसी को के तट पर झूला झूलने हुई आपने देखो प्रिया प्रियतम तो युवा जुड़ रहे हैं जुड़ते जुड़ते आधा को सरसी कुंड के अंदर एक दिव्य लक्षण जिसकी बहुत सुगंध थी वह महाराज कमल खिला हुआ दिव्य राधा रानी बोली प्यारे यह कमल तो बड़ा प्यारा दिख रहा इसे लेके आए प्यारे बोले आप हाँ, हाँ, प्यारी अंडे से उतरे ललिता सखी को बुलाया राधा रानी ने राधा रानी ने कहा वो कमल चाहिए ललिता सखी ने नाम ली नाम से चक्की मांगते मांगते कमल के पास पहुंची कमल को खाया कमल निकाल के लेने आई श्री राधा रानी को श्री राधा रानी के हाथ में जैसे ही कमल आया कमल को हाथ में लेके चित्रा छठी से बनी चित्रा जना दर्पण लेके आ शीशा लेके आ चित्रा सखी दर्पण लेके आई है यहाँ राधा रानी ने अपने उल्टे हाथ में बाम हाथ में उस बाम हस्त में उस कमल को धारण कर लिया और प्रियतम से बोली देखो कितना सुंदर कमल है और फिर जैसे कि चित्रा सभी धर्मों को लेके आई राधा रानी अपने चेहरे को और कभी कमल को दोनों को उस दर्पण में देख रही थी भगवान श्री कृष्ण ने जल्दी से वाम हस्त से उस कमल के फूल को ले लिया और लेने के बाद लिया उसे बोले ये दर्पण बोले तीनों जरा दर्पण आपने लियो लेके कन्हैया ने वह उस जल कमल को राधा रानी के मुख के पास ले गए श्री मुख के पास और बोले कि प्रिया जो जरा दर्पण में देख के बताइयो कि यह जल कमल ज्यादा सुंदर है कि तुम्हारा मुख कमल देवी प्रिया जो ने दर्पण लियो दर्पण लेके कन्हैया के मोहरे की तरफ कर दियो और मोहरे की तरफ करके कह रहे मुझे तो नील कमल ही श्रेष्ठ कमल है देखो बोली भी है और चतुराई भी बोली भी है और चतुराई भी अजी कहते ना बन पाए चतुर्थी में तो यही तो बात होती है ना वो कुछ कहे सामने वाला मुंह हो जाए कन्हैया में फंसे रहे कुछ न कह पाए मुस्कुराते रहे मेरा सिंधु रघुराम सिंधु रघुराम तुम्हारा तो अनुराग रस सागर ही श्री अनुराग की ही चर्चा चल रही है तीसरा है वात्सल सिंधु तपस्वी क्रिया को अपना वात्सल्य देने के लिए वह जितने भी जितने भी भक्ता है जितनी भी गोपिया है जो लता पता वृक्ष बनकर इस धाम वृंदावन के अंदर विराजी हुई है उनके पास राधा रानी वात्सल्य स्वरूप होकर वात्सल्य मूर्ति होकर उन सबको प्रेम देने के लिए प्रेम से स्फुरित करने के लिए प्रेम के रस को प्रदान करने के लिए उस हेमलता मंदरी के पास पहुंची और पहुंचने के बाद राधा रानी ने उस हेमलता मंदरी को अपने हाथों से सहलाना चालू करा उसकी जो नव नव कपोल महाराज उन कपूरों को अपने दोस्तों से चिन्हित कर रही थी उसे आलिंगन दे रही थी अरे मेरे दोस्तों में वह भगवान श्री कृष्ण का वह मकरंद है वह प्रेम रस है या तू भी उस मकरंद से उस प्रेम रस से स्फुरित हो इस वृंदावन के उस रस से दिव्य दिव्य कप है उससे स्मृत हो महाराज जैसे ही मिला वह जितनी भी वहाँ चाहे जितनी बदलियां थी वो सब स्फुट हो गई वह भरा सब स्फुटित हो गई और स्फुटित होने के बाद जैसे राधा रानी का वह महासौरभ वह महाप्रेम जैसे प्राप्त हो गया वो वह सब खिल गई और तभी वहाँ पर एक मालती लता थी वह मालती लता तो इतनी स्नेह में भर गई कि मैं राधे की सेवा कैसे करूँ कैसे करूं तो मालती लता के ऊपर जितने भी मालती के पुष्प लगे हुए थे उस पुष्पों से महाराज उसे मालती लता ने श्री राधा रानी के ऊपर वर्षा करी दी जैसे ही पुष्प वर्षा हुई है सब सखियों में ताली बजाकर महाराज उस लीला का दर्शन करा उसका आस्वादन करा सबको बड़ी प्रसन्न तो महाराज ये ये जो माँ आदेश को वृंदावनेश्वरी करते कन्हैया को आपको वृंदावनेश्वर तो तो हाँ? नारद पांच सौ राम के अंदर नानक जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी राधानुगम् राधिकेशम् राधा राधाधारम् भवाधारम् सर्वाधारम् नानक जी राधानुगम जो राधानुगा है कन्हैया कौन है राधानुगम राधा रानी का आनंद करके प्राप्त करे गए वृंदावन के अंदर उनकी गति नहीं है ये दोनों एक तत्व में देखो तत्व में घनीकृत नहीं है राधा कृष्ण एक है ये तो प्रेम रस की ये तो लीला का संवर्धन करने के लिए वह लीला का संवर्धन करने के लिए यह लीलाएं करी जाती है जहाँ पर कभी कृष्ण की कृष्ण की रस की खुशनी होती है कभी राधा के रस की खुशनी होती है राधा अरे राधा शब्द सभी के अंदर तो बड़ा बढ़िया श्लोक आया राधा संत सखी के अंदर जो तो बोला है वो कन्हैया कौन से क्या करते बोले राधा सदा भूते पश्यति शृणोति च राधाधीनश्च हसति गयति च नृत्यति ये जो जो कन्हैया है ना वो राधा को राम है और राधा को राम में भी वो राधा ठीक है राधा रानी के आदमी है कैसो आदमी है ठीक है बोलते भी है हंसते भी है और अगर कानों से सुनते भी है तो राधा रानी की आज्ञा से करते हैं बोले नहीं करते राधा रानी की जब आज्ञा हो जाती है तब कन्हैया कैसे करे अच्छा और क्या करती है हसती गयती हंसते भी राधा रानी की आज्ञा से वो गाते भी राधा रानी की आज्ञा से और वो नृत्य भी करते हैं तो राधा रानी की आज्ञा से करते हैं सब कुछ राधा रानी की आज्ञा वृंदावनेश्वर उल्लासेश्वर रसाधीष्ठा उन रसाधीष्ठा जो वात्सल्य सिंधु की निर्मित वात्सल्य ही है जिसने जितने भी भक्त इधर वृंदावन के अंदर विराजमान है उन भक्तों को वह प्रेम की प्राप्ति कराई है जो देवों के लिए भी दुर्लभ राधा रानी का ही वात्सल्य कन्हैया प्रेम कहाँ देव है कन्हैया तो प्रेम लेने के लिए आता है कन्हैया जो है वह प्रेम लेने के लिए आता है राधा रानी जो है वह प्रेम देने के लिए देखो पांच प्रकार की प्रवृत्तियां हैं शास्त्र के अंदर सावित्री जो वेद की अधिष्ठापी देवी है दुर्गा जो बल की अधिष्ठापी देवी है सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठान की देवी है लक्ष्मी जो ऐश्वर्य की देवी है और श्री राधा रानी जो प्रेम की देवी है संसार में सब कुछ है सबके पास इस कलयुग के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वह प्रेम की कमी है परिवारों के अंदर भी कहीं कुछ नहीं है तो प्रेम ही नहीं है सब कुछ मिल जाता है देखने ही नहीं है और यूरोप में ये कैसा है देखो ग्रह की चार अवस्थाएं बनी गई है पूर्व राग मान प्रेम वैचित्री या दूर गमन ग्रह जो होता है चार प्रकार का वियोग जो होता है चार प्रकार कभी मिले नहीं है तो मिलने से पहले का ग्रह मिलने से पहले करते हैं कभी किसी से मिले नहीं पर जानते हैं उनके बारे में सुना है उनसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं कैसे भी करके मिलेंगे किसी को तक मिलेंगे तो ये पहला प्रेम दूसरा प्रेम मान मानवी का प्रेम कारण हो या ना कारण हो इच्छा हो या ना इच्छा हो रूम के बैठ जाए मना ले तो राधा रानी माननी है कारण हो या ना कारण हो ठाकुरानी खट्टे महाराज बैठ गया सब ठाकुर को ठाकुर हरि का ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी सब ठाकुर को तो ठाकुर हरि और बात ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी यार माननीय मान का सबसे बड़ा कारण क्या होता है मन सबसे बड़ा उसका विशेषता क्या है कि यह मालूम है कि मैं कितना भी दुष्ट हो या दुष्ट होने का नाटक कर लू उसके बाद भी मेरे संबंध में कोई भी असर नहीं पड़ेगा या तो तुम्हारी बीवी जरा से गुस्सा है यार कितना दिन झेलोगे तुम्हारे घर को कोई सदस्य का जो बिना गुस्सा है जाए कोई रूट मटक के बैठे है ठीक है मैं हाउस बार मना लिया हम लड़का जैसे लक्ष्मी जैसी ना कोई गुस्सा लेके बैठोगे काबर में बैठे माननी मान कर रही है पर दिल को मालूम है कृष्ण चंद्र नहीं जलेंगे नहीं बेहतर चंद्र को कमल के पीछे पगला पड़े हुए ये मान के अंदर इसलिए स्वामित्व जो है ये ये स्वामित्व विषय संसार के अंदर हमारे जुड़े संबंध होते उसमें नहीं होता है ये राधा रानी के पास अलौकिक मान या पति पत्नी मान करके बैठे बच्चों दिना गया कल आपको नोटिस आ जाएगा और एक वक्त आएंगे वक्त आएंगे या मानवीय कैसे रहा है मतलब तो गुरु साथ नीचे ले आते मनाने के लिए ठाकुर जी तो सब पहले गिर जावे खुद ना माने तो सब मंजरी को भेजे फिर सखी को भेजे फिर तो सब खा जावे हाँ धीरे धीरे सब के सब जाके सब लगे अरे मांझा अरे मांझा अरे मांझा कई कई दिना तो कितने कितने हफ्ता निकल जाए माने ही ना गुस्से में बैठ जाए कोई कारण ना है गुस्से ये वियोग के बाद जो संयोग की स्थिति होगी जो तो दस दिन की लड़ाई करने के बाद आज जो तो प्रेम का जो तो आज ट्रेनिंग स्टूडेंट होगा ये ये ये ये इस रसवर्धन की लिया है महावीर उनका राधा रानी का स्वामी राधा रानी की वार्ता है राधा रानी का अधिकार है राधा रानी का आदेश है भगवान श्री कृष्ण राधा भीतम राधा मृगम वह राधा मृगम है वह राधा के भीड़ और वह वृंदावनेश्वरी क्या करती है तो प्रेम अनुराग की मूर्ति और वह प्रेम अनुराग देने के लिए ये माता है करते हैं अपने बच्चों के पास सखियां जो उन्हीं के जो चंद्र उनकी जो नख चंद्र है जो उनके पैर की उंगली का एक नाखून है उस नाखून में से जो अनेकों अनेक रोशनियां निकलती हैं उन रोशनियों की एक रोशनी से हाँ, अनंत रोशनियों की एक रोशनी से सब सखिया प्रकट हुई तो जितनी भी बेटियां जितनी भी बात भी गोपी रूप में इस वृंदावन के अंदर लता वृंदावन के या किसी भी रूप में अवस्थित है वह सब श्री राधा का ही ध्यान करते हैं कहानियां देखो ये ये ये पुरुष ये रस को तो लेके आता यहाँ कन्हैया भी जब वृंदावन के अंदर आता है तो उसका जो पूरा वेश होता है उसके हाथ में बांसुरी भी है चाहे उसने कंकड़ कंकड़ सब पहन रखी है सब भी या तो गोपी रूप में है या राधा रूप में सब राधा में है शास्त्रों के अंदर तो वेणु जो है वह शिव जी को भी बताया गया है उस देवी को सरस्वती भी बताया गया है पुराण आदि की कथाओं में और वही जो वेद है वह सखी के है वृंदावन के अंदर प्रवेशियों का पुरुष वृंदावन का एक ही पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही जब उस वृंदावन के अंदर जाते देखो आप यहाँ आश्चर्य को समझिए भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री राधा कृष्ण एक जगह लीला कर रहे हैं कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं राधा रानी बोली अरे भैया तू तो बड़ी बढ़िया बांसुरी बजाए मैं भी बजाए मैं भी बजा के देखें राधा रानी ने बांसुरी लिखी मुरली ली मुरली लिखे गुरु गुरु कई कचुआ रानी रानी की सांस ली लगी राधा रानी ने

तीसरी बार है चार बार जाने के होते शरीर में जाने के बाद तो बोली मुझे बोली ना शरीर प्राण आने के लिए है जैसे मुझे सब मेरी बोली में ही दरबार क्या है ना कर रही हूँ बात आने की शाम के लिए ये तो कहा यार हम तो बड़े बड़े बात करें तो यार कहीं बोली तो बड़ी तेरी तेरी इसलिए बड़ी तेरी याद है बंसी जो सखी थी वह हड़क हड़क आपकी हुई वही प्रकट है रही हाथ जोड़ के खड़ी है रही हाथ जोड़ के बोले दादा रानी गुस्सा मत करो मैं तो आपकी सखी हूँ मैं तो आपकी ही पति प्रथा हूँ मैं आपको ही मानती हूँ आपका ही धर्म मानती हूँ मैं तो अहिया को मानती हूँ मैं तो आपकी सेवा ही कर रही हूँ राधा रानी बोले मैं तो बची क्यों ना है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है इतनी बड़ी बड़ी सब कह रही है कौन तो तो तो संगीत भगवत मान रहे के अंदर आया ना विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करते हैं वहां चौदह चक्रवर्ती आप भगवान कृष्ण कौन है चोर नहीं है महाचोर है चक्रवर्ती किसे कहा जाता है अभी भी राजा आ रहा हो तो महाचौर चक्रवर्ती क्यों है चोर जो क्योंकि जैसे ही बांसुरी बजाई बांसुरी बजते ही है सबके सौ स्वर थे और जितनी भी गोपियां वहां पे राजी हुई थी उन सब गोपियों के हृदयों को मन को चुरा लिया और छुड़ा के वह भगवान श्री कृष्ण उस रासौली में उस स्थान पर खड़े हुए हैं वह सब स्वर ले जाके उन मन चित्र को भगवान श्री कृष्ण के पास अर्पण कर रहे हैं जैसे बहुत सारे चोर चोरी लगने के बाद धन को एकत्रित करके अपने सरदार को देते हैं और जितनी भी गोपियां है वो जैसे भैया तुम्हारा कोई चुरा के भागने लगे तो इन सब कुछ उस क्षण भूल के उसके पीछे भागते हो उसी प्रकार से अरे महाराज सब तो आपने घरों में जो कामना कही थी सब भूल गई जिस स्थिति में भी वही छोड़ छाड़ के भागी किस भागी अरे मनमोहन ने हमारा मन चुरा तभी तो मैं मनोहर कहा गया ना मुरली मनोहर नाम के बड़ा मुरली से मन को हरण करने वाला महाचौर तो हमारी भी अब की गरीबी को देख रही वो भी कंसी जो है हाथ जोड़ के लिए राधा रानी ऐसो मन में विचार भी आप मत लेके आओ मैं आपकी भी आपने शपथ आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो बांसुरी बजाना हमें अच्छा लगता है उनको आनंद देने के लिए ही आपने मुझे बंसी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया हाँ कि भगवान श्री कृष्ण इसको बजाएंगे और बजाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब बनाएंगे तो आप खुश होंगे तो मैं तो आपकी सेवा के लिए ही कृष्ण के पास गई हूँ जब कृष्ण इसको बजाते हैं तो आप खुश होती है आप खुश होती है तो मैं आपकी काशी और खुश होती हूँ तो आपकी खुशी के लिए ही मैं कृष्ण के पास हूँ राधा रानी बोली ये सब तो बात ठीक है पर तू बची क्यों बनाए मुझे मानो चल गया तू है ना तो तू मुझे ये चीज ना चिकनी चिकनी बातें मेरे सामने कर रही है तू है ना ये हाँ सखी बोली तुम्हारा कन्हैया बहुत रसिक है बहुत लंबा है मैं कहा बोलूँ कैसे कैसे दस देने की मुझे कोशिश करके मुझे अपने पास बुलाने की चेष्टा है महाराज मोहस चुंबक आली आलिंगन बार बार मेरे होटो पे चुंबक में कायल रखा जाता है मैं आपकी सखी हूँ अपने हाथों को पकड़ेंगे आलिंगन में लाकर तुम्हें आपकी सकी मेरे अंदर कहो बार बार हंसनी स्फूर्ति करके अपनी तरफ कृष्ण स्नेहा का बढ़ाना चाहता है पता क्या बोलो तो आपकी सकी हूँ अपने पास सुना लेता है मुझे परंतु मेरे सबको अपराधे मेरे सबको ध्यान भी नहीं देती हूँ क्योंकि मैं तो आपकी सकी हूँ राधा रानी बोली वो बात तो सब ठीक है तो मैं कभी भी ना होते ना कई कोई गलती करते पचास जगह की बात करते जो काम की बात होगी कोई ना मैं यहाँ ले आया ठीक है तुमने कर लियो लेट क्यों करे हो सबने आप हो गए नहीं करे सबने महाराज राधा रानी को

देखो ये ये ये लिखा था आसमान बंसी हाथ जोड़ के बोली जिस दिन आप मुझे दे रही थी तो मैंने एक शर्त रखी थी एक प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण जब मुझे राधा रानी का गुणगान करने के लिए बनाएंगे तभी बनेंगे वो कन्हैया जब जब आपका नाम लेते हुए इस बंसी को बजाते हैं मैं बज जाती हूँ परंतु जब आपने इस मुझको अपने करकमलों में लेकर चुम्बन लेकर मुझे स्कूल करने का प्रयत्न करा मुझे बजाने का प्रयत्न करा आप कृष्ण को रही थी परंतु मैं तो राधा स्नेहा देखा हूँ मैं तो राधा रानी आपकी भक्ता हूँ मैं कृष्ण का नाम नहीं ले सकती हूँ तो मैं नहीं बनी अगर आप राधा अपना नाम ही स्वयं इस बांसुरी पे बोल दो तो आप देखो अरे कन्हैया क्या बजाए हाँ, कन्हैया के उस बांसुरी की ध्वनि में भी वह मनोहरता नहीं है वह मनोहरता जब अपना नाम उसके अंदर आएगी और मेरी राधा रानी ने जैसे ही उस बंसी को अपने पोस्टों पे रखा चुमन दिया और चुमन लेके श्री राधा अपने ही नाम का छेड़ा महाराज ऐसा विषम संगीत प्रकट हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का नाम सुना नहीं हो ये जब राधा रानी ने कथा के प्रारंभ में बताया ना जब कन्हैया में पहली बार बंसी बजाई तो राधा रानी बेहोश है अब राधा रानी ने पहली बार बंसी बजाई कन्हैया बेहोश है आप लिया और जैसे ही मूल से भूमि का तो मूल समय आदमी गिर जाए ना राजधानी अच्छी अगर लेकर गयो लगभग हर पूरे लगेगी राजधानी है बच्ची है परिचय करो कैसे सिंह महाराज जाके अपना जाओ मैं कहीं आपको पकड़ लिया अरे गिर जाएगा माता वाला पूछ जाएगा तो ऐसे ही करो रब की क्रिया भुज भरी में जागे मनोरजनी सोई जो बेहोश रहे हो तो राधा रानी की भुजा को स्पर्श करते ही ऐसे जागियो जैसे सोमो भयो रात्रि को सोयो भयो आदमी सुबह जग जाए अरे वाह पूरी एनर्जी में है जी कल आपको कोई बड़ी नींद आई जो कन्हैया बेहोश हो रहे हो कभी राधा रानी के स्पर्श की परंतु ना हुए जब पीने वालों की है तो सुबह तक हमारा गर्भ आपको सदबर रखेगा आपको माथा घूमे होश में तो आ जाए परंतु होश में भी तो इसी ऐसी स्थिति है काम देने का हैंग ओवर है पंजाब में तो लस्सी चलाते हमने देखी सुबह सुबह भी सब सरदार लस्सी चलाते हुए आपकी सब कर जाएगी आप ठीक करेगी कन्हैया जग तो गयो परंतु वह जो तो राधा नाम का स्वर जो बंसी में श्री राधा रानी ने गाया था दिमाग घूम गयो अब राधा रानी की भुजा में पड़ा हुआ है कन्हैया हाँ? नाम लेते तो राधा रानी की भुजा में पड़े हुए राधा रानी की भुजा में कन्हैया पड़े हैं अरे राम पर मन में आया तो अभी कुछ ध्यान में ना आए हिंदू में रह गयो बंसी की ध्वनि को बंसी के राधा नाम ऐसा ऐसा वो राधा नाम कभी ना सुना था ना बजाया था हमने तो गुरु ने दुनिया की गुरु ने बजाया गुरु ने बजाया तो भैया गुरु तो ऐसे शास्त्रांत को लेके आया है जो चीना के राम के सामने भी मैं हाँ। क्या भगवान श्री राधा जी की भुजा में है संगीत को हैंगओवर अब राधा रानी को होश में लेके आना और कठिन आपको असर नहीं है बताओ एक ही नाम होगा दो मिनट के लिए दो सेकंड के लिए बताइए तो दो सेकंड अपनी चंद्र पीढ़ी को पानी को हैंगओवर उतारने के लिए कन्हैया के मुख में लिए वृंदावन की लीला बीवी की लीला जब तक बीवी नहीं हो लीला राधा कृष्ण की लीला न हो सकेगी चाहे सखी का हो चाहे मंजरी का हो चाहे कोई गोपीकरण हो चाहे कोई किंकरी हो प्रसाद रूप में श्री राधा रानी की अनुचरी बनने के बाद अगर कुछ बहन मांगती है या कुछ फल प्राप्ति की जिज्ञासा भी होती है तो वो बीवी चाहिए श्री राधा रानी की चरोचित बीवी हाँ, चाहिए वृंदावन की लीला मुख्य लीला जो है वह बीवी की लीला

बचू श्री नागर के मुख में गई और श्री प्रिया मुख अधिकारी जी देखो स्नेहा देखा जो तो, राधा स्नेहा देखा जो तो शक्ति होती है जो मंजरिया है वो बड़ी चालू होती है वो कन्हैया को ज्यादा ना देना चाहे तो वो बीड़ी भी दे रही है कन्हैया को तो देते देते वापस ज्यादा सो पार्ट जो है वो राधा रानी के मुंह में दे रही है जब चैन हो गए जब दूध आता है फिर नागर के बाद दूध लेके आती है तो देखो ये भाव ये स्नेहा यहाँ लाना है स्नेहा लेकर वृंदावन के अंदर आती है तो अगर वह दूध को तो कटोरा लाके राधा रानी को देगी ये पांच लीला की बात है वहां दूध को तो कटोरा लाके राधा रानी को देगी तो राधा रानी कहने नहीं की राधा रानी का भैया कोई बात नहीं परंतु मंजरिया इतनी चालू है मंजरिया इतनी चतुर है कि वह कटोरा लाके कर के हाथ में बच्चे रखी है और राधा

भगवान श्री कृष्ण जो मुख में डालते खिला रही है तो तुम्हारा संगीत को हिंदुवर खत्म देता है जितनी सखिया है वह आंचल से अपने अपने आंचलों से पंखा दे रही है ये पसीना निकलो रोज गुजरेगा रोज रोज रहोगा पंखा तक रोज गुजारी से हाँ कन्हैया अभी तक बेहोश हो अब होश में आयो हम अबोश है राधा रानी ये का वात्सल्य वैसे दिखता है भगवान श्री कृष्ण को खाना खिलाती है हाँ। जो रसशास्त्र के नियम के अनुसार श्री राधारानी का वास्तव्य भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखा है जब राधारानी कृष्ण के लिए रसोई बनाती है और अपने कर कमलों से उनको खिलाती है परंतु यहाँ आज दूसरा वास्तव में कन्हैया को देखो तो कन्हैया को रोज में ना आने के मैं रोज कहेगा तो बिल्कुल बड़े ये जो राधा रानी की जितनी भी सखियां हैं जो गुरु काली देव ने आपको पंखा जलने की बड़ी सेवा है रही है मदहोश व्यक्ति जो होए इमोशन वो इमोशनल हो जाए तो कई सारे लोग देखे ना पीने के बाद अरे बड़ो दोनों दोनों चालू रह जाए कहा की बात कर लेकिन आ जाए भगवान श्री कृष्ण ने मेरी आराधना का उस मानसून का दर्शन करा और दर्शन करने के बाद ऐसे मदहोश हुए कि रोने लग गए ऐसे मदहोश हुए कि रोने लग कैसे जैसे सदा सुभाए के रोए वो के छुए वो पाए ऐसे होने लगे कि जैसे वात्सल्य मूर्ति के दर्शन करे कि रोते ऐसी वात्सल्य मूर्ति तुम्हारे पैर पर तुम्हारे पैर को मैं छूना चाहता हूँ अपने मस्तक पे लगाना चाहता हूँ जब जिनसे मिलता है जो माता पिता रूप में भी वो प्रदान करते उनके पैर जाते हैं उनके पैरों को अपने मस्तक भगवान श्री कृष्ण को इतना वात्सल्य मेरी माँ लेकिन करो ऐसे करो के साथ इसकी बेदाएं झगड़े नहीं है सब करती लगी करती रहती हमारे यहाँ तो सब सखियाँ लगी हुई बकरा भी कर रही हाँ, तो तो तो है हाँ मैया जो दूसरी खा दे रहो तो इन्हें चलते तो बीवी कौन है बड़ोदा को है हाँ जाने तो होश में राम की जगह मदहोश कर दियो है हम अक्सर ले राम राम ऐसी सेवा के लिए तो नहीं आने इमोशनल है कि रोने लगो लीला संभाल है हे के पाए महाराज क्या वो कहाँ प्रिया जी के चरण है कहा उनको उनको छुआ गए आप वात्सल्य सिंधु वात्सल्य कृष्ण के पास परंतु राधा रानी के पास वात्सल्य नहीं वात्सल्य का सिंदूर और इनाम में क्या लिखेंगे राधा राम वल्लभ वल्लरी के देखो भैया समय के हिसाब से तो लगे ना पूरा स्क्रिप्ट कैसे आएगा जितनी है जाएगी उतनी राधा रानी के चरणों में हम फिर राधा रानी का गुलाबी भी कबूल कर देंगे बहुत महान है ये तो लीला का भाव लेके चल रहे हैं ना तत्व की चर्चा हो रही है ना तत्व की चर्चा हो रही है तो लीला तत्व की चर्चा श्री राधा रानी ने जैसे ही मुसलमानों को उन इलाकाओं को आलिम दिया सूर्य करा महासौरभ पुष्प से सूर्य को से पुष्प करा पुष्पित करने के बाद मारुति लता ने जितनी भी उसके ऊपर फूल लगे हुए थे उन पुष्पों से वर्षा करके जैसे श्री राधारानी का पुष्प अभिषेक नहीं कर दिया हो जैसे ही पुष्पार्चन श्री राधारानी पे हुआ सब सखियों ने वहाँ जय जय जयकार करी जय जय तो सौंदर्य श्री राधारानी के ऊपर वह लता पता वह वृक्ष स्वयं पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कोई मनुष्य कोई सही नहीं वह महासौरभ से भरी हुई वह लता लगाए तो उसके वृंदावन के प्रेम से रस प्रेम से पुष्प हो चुकी है वह क्या दूं क्या दूं मैं अपनी राधा रानी को क्या सेवा करूं अरे यह राधा रानी ने हमें जिस प्रेम से स्तुत करा है उस स्तुत का जो फल जो पुष्प के रूप में प्रकट हुआ है उन पुष्पों को ही मैं राधा रानी को दे देती हूँ वही से ही उनकी अर्चना सब पुष्पों राधा की बड़ी प्रसन्न थी राधा रानी सब सखिया बड़ी प्रसन्न है राधा रानी अब जब चलने लगी स्थली की तरफ तो उनके पैरों की पैरों में लगे हुए कुमकुम पराग अलता केसर चंदन वह सबके सब मणि में जो वह दिव्य वृंदावन है उन सब वृंदावनों पर उनके पैरों की छाप उनके उन्नीस जो चरण चिन्ह है उनकी छाप उतर और यहाँ जितने भी पुष्प गिरे थे और जितनी भी जगह श्री आरानी ने जिन जिन को अपना वात्सल्य देने हेतु चुम्बन किया था अपने हाथों से सहलाया था अपने हाथों से कर कमलों से जिनको पुष्प करा था उन सब पर सब की सब राधा में हो गई और उन सब के अंदर राधा प्रतिबिंब दिखने यहाँ पूरा प्रतिबिंब दिखा यहाँ प्रतिबिंब दिखने के बाद राधा रानी रस करेंगे की तरफ प्रस्थान कर गई यहाँ कन्हैया अपने कुंड में कमाल के वृक्ष पे टेक लगा के खड़ो गए दो सखियां उसके पास गई और जाके बोली अरे अभी अभी हमने एक अनुपम सुंदरी के दर्शन करे ऐसी सुंदरी जो आज तक हमने कहीं ना देखी दिव्य सुंदरी जो आज जाए हमने देखो कृष्ण स्नेहा देखा सकते हैं उनके पास राधा रानी के मुख कमल का दर्शन करते सब भूल गई और कन्हैया के पास आके श्री राधा रानी के बस उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगी जब रूप सौंदर्य का जब रूप सौंदर्य का वर्णन करा कन्हैया के हृदय में जरासी उत्पन्न आई और उत्पन्न के दिनों अरे और और बताइयो कैसी लगे वो वो कैसी सूरी है कैसी बाबू रूप सौंदर्य हाँ या खनु गौरी चा गौरी सहस्त्राधिका तथापि श्यामा अनादि अनादिगति किशोरी अरे क्या पार्वती हो क्या सरस्वती हो सहस्त्रों पार्वती सहस्त्रों सरस्वतिया सहस्त्रों इंद्राणी भी फूट खूबसूरती को अगर मिला दिया जाए तो भी उस रूप सुंदरी वह जिस गोपी को हम देख के है उसके सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकती कन्हैया ने पूछो ऐसी सुंदरी भैया कौन है ऐसी सुंदरी कौन है उसका परिचय परिचय दो तो शास्त्र के अंदर आया याम महालक्ष्मी कुछ लोग कुछ लोग महालक्ष्मी सोचते हैं महालक्ष्मी बोलते हैं रीति केचन लीले की तांत्रिका तांत्रिक जो है उन्हें लीला कहते हैं कई लोग उन्हें महालक्ष्मी कहते हैं कई तांत्रिक लोग उन्हें लीला कहते हैं परंतु सा आनंदिनी परमानंद रूप पर ब्रह्म कई भी बोल रहे अरे भैया वह आनंदिनी जो है वह नाम महालक्ष्मी और वह ना कोई गीता है अरे वह तो परम ब्रह्म साक्षात परमात्मा श्री उसके बारे में सुनो पहले महाकृष्ण श्लोक मन में वो कंठा हो गया पूरा आप जो है तो एक बार तो दर्शन होने के लिए कन्हैया तो सामने रस प्रकट करती है रस तो को चलिए आए रूप सौंदर्य को रस कैसी सुनी और चली की सुन रही है सची पति मिया ने के सामने आ गई पूरी आगो आगो उनके सामने उनको रूप फैली ना ऐसी से कोई जरूरत नहीं हमारे मन में हमारे घर में ऐसी कौन सी सुंदरी आ गई कन्हैया बोला मिलवाइए जरा उनसे दोनों गोपियां बोली मिलवाट देखो हम पास में तो ना लेके जा सके परंतु जहाँ गई हम वहां को अंकित कर देंगे कहाँ जाना है ठीक है ठीक है हमको तो मिलने के भाई कहीं भी चल लेंगे तुम्हारा कार्य हमारा तो भैया बोलो चलो चलो गोपियां लेके आगे लेके चलने लगी चलते चलते कमाल वृक्ष में आगे गए जीव लता बन लगी थी जहाँ पर श्री नारायण ने अपने कहा अपने कर कमरों से अपने हाथों से उन लता पताओं वृक्षों को जो दिया था वहां पहुंचते ही उनको वह प्रेम देने वाले उसी स्थान में तरफ तो उन गोपियों ने इशारा करा और कहते हुए कहा यही ही यही मिल जाएंगी तुम जाओ तो सही और जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण वहां की तरफ भागे अरे भैया महादेवी यहाँ वहां पहुंचे वहां पहुंचते ही वहां सौरभ प्रेम से भरी हुई उन लता प्रताओं में श्री राधा रानी के उस प्रतिबिंब का दर्शन कर लिया जो आराम में हो चुकी थी जैसे ही आराम में उन प्रतिबिंब का जो चिन्ह में है प्रतिबिंब भी चिन्ह में है उस चिन्ह में प्रतिबिंब के दर्शन करके जिसमें राधा रानी का चित्र भी इंगित था वह राधा रानी में हो चुकी थी वह राधा में के दर्शन करते ही शरीर में रोमांच हो गया कन्हैया ने तो राधा रानी को नहीं देखा राधा रानी के प्रतिबिंब को देखते ही

मेरी राधा रानी की प्रेम से वात्सल्य प्रेम को प्राप्त करती हो आहा आशीर्वाद जैसे अपने लता पताओं कहे जो तो मानती के पुष्प जो वहाँ पड़े हुए श्री राधा रानी का स्पर्श करके बंधन करने लगे अपने मस्तक पर लगाने लगे और मस्तक पर लगाते हुए कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर यह जो राधा रानी का प्रतिबिंब लगा हुआ है तुम जो राधा में वो छुपी हो अरे कुछ उस नाना रानी के बात के उस प्रेम की कुछ बूंदे मुझको भी दे दो मैं भी उस राधा रानी के उस जो अनुपम सुंदरी रह जो रास राशेश्वरी है उनके प्रेम की अगर कुछ छड़े बूंदे भी मुझको मिल जाए मेरा जीवन धन्य हो जाए रोने मेरे भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं तो कौन सी खुशी कौन सी कोई तो बता सकते हैं कौन सी वाली की बात करें जो राधा रानी के हाथ में देखो लीला पक्ष राधा पल्लव भाई किसी गीता की स्फूर्ति तो हुई होगी तभी तो उन्होंने इस बात को लिखा तुम बदला सकी किस बात की बात राधा रसदा ने किस बात की कौन सी बात कर लगी उस लीला में जब राधा रानी ने जाके जिन बल्लरियों को अपना महासौरभ प्रेम अपना अनुराग प्रदान किया था अपना वात्सल्य दिया वात्सल्य के मामले भगवान श्री कृष्ण रो रहे आनंद से रो रहे राधा राधा राधा राधा राधा कैसे राधा के दर्शन कैसे होते तो प्रतिबंध के दर्शन करें कहीं पेड़ों के पीछे छुपकर विशाखा और चित्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण की गिर प्यारे की इस लीला को देख रहे हैं और देखते हुए भगवान

हमको मालूम है कि स्कूल में कटाई लगाते आओ चलो आओ चलो हम लेके चलते हैं कन्हैया में जैसे चांद आते हैं कन्हैया बोला हाँ हाँ चलो चलो चलो इनका तो प्रतिबिंब इतना सुंदर दिखता है कितनी सुंदर होगी और उनकी सुंदरता की महिमा तो मैंने अभी बहुत सदियों से सुनी है उनकी ये प्रतिबिंबता दर्शन करते ही जब मेरे शरीर में अष्ट विचार और रोमांच आदि सब आ गए जिससे मेरे आनंद अश्रु बहने लगे मैं उधर आनंद दर्शन करना चाहता जिनकी कर कर से कर कलों से इन सब लता पताओं पुष्पों को भी प्राण मिल गए हो जिले के अंदर इतना महासौरभ हो सिंचन हो चुका हो वात्सल्य रसमूर्ति ने जब इतना वात्सल्य इतना अनुराग इनके अंदर भर दिया है हम एक एक प्रिया की रक्षा करना चाहते हैं ये जो विशाखा चित्रा ने दिया ही निकलते ही श्री राधा रानी के चरणों में लगे हुए अंता कुमकुम चंदन कुमकुम आदि से जो पदचिन्ह उस मधुर स्थली में बन चुके थे ये भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही इसका दर्शन करना और दर्शन करते ही भगवान श्री कृष्ण नहीं लोग भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्री राधा रानी का वह चरण चिन्ह है राधा रानी के चरण चिन्ह के पास बैठ गए चरण चिन्ह के पास बैठकर उसे बार बार अपने ओष्ठों से चुम्बन दे रहे हैं चुम्बन देते हुए आ यह राधा रानी के चरण है निष्कुमारी चरण जिसमें उन्नीस यहाँ महाराज उनके उन्नीस अलंकार बने हुए चिन्ह बने हुए हैं अरे कभी इतना ताप था इतना सूर्य का ताप था सोचने लगे अरे मेरी राधा रानी के यह कोमल चरण को जल जाएंगे अपने मोर मुकुट से राधा रानी के चरणों में चरणों को छाप दी और छाप देने के बाद सोचने लगे इतनी देर से जो धूप पड़ रही है उस धूप से राधा रानी के चरण गर्म हो गए होंगे कैसे शांत करूं कैसे शांत करूं तभी आंखों से महाराज आनंदाश्रु करने लगे और उन आनंदाश्रुओं से ही श्री राधा रानी के कुल चरण कमल चिन्हों को भी भगवान श्री कृष्ण अपने आश्रमों से अभिषेक देते हुए हृदय देते कभी चीख रहे हैं कभी अभिषेक कर रहे हैं कभी रो रहे हैं दरबा उठा लिया महाराज अपना पीताम्बर लिया कहने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं अभिषेक जाए जो आपको इस सूत्र दे रहा है उसके बाद देखो यह कला है कि अपने ही पीताम्बर को ऐसे इस की माटी गड़ गड़ के अंदर डाला की जैसे है तो चार चिन्ह थे उसके नीचे आसन लग गया और आसन लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं नतमस्तक हो रही है नतमस्तक होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पे दर्पण ले लिया और दर्पण लेके लेते गए चरण चिन्ह के पास और ऊपर करके चरण चिन्ह को देख रहे हैं तो, और चरण चिन्ह के दर्शन करते करते आरसी से उस दर्पण से शीशे से दर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं मरुर स्थली एक एक पद के अंदर पूरी लीला है एक एक पद के बांधों में मूर्ति ऐसे करेंगे राधा रानी ने अपने चरणों को एक बार देखा पूरी लीला कढ़ाइया तो हमेशा देखते रहे जैसे सोल राधा रसोदानी जी के सोल में सोलवे सोलवे के अंदर श्लोक के अंदर आया है पदांगुरी निहित दृष्टि पत्र पिशु कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं अपने आंख को नीचे करके श्री राधा रानी के चरणों की जो नाखुन है उनके दर्शन करते रहते हैं आज भगवान श्री कृष्ण की आंखें कहा रहती है उनके चरणों के नीचे राधा रानी से दो कई आचार्य बैठे हैं कई आचार्यों ने तो इस भाव को लिया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की तरफ देखते रहते हैं कई आचार्यों ने भाग ले लिया है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की तरफ देखते रहते हैं सीता भगवान अशोक वाटिका में पहुंचे थे तब सीता जी अपने चरणों की तरफ देख रहे थे राधा रानी ने भी अपने चरणों को एक ही बार देखा है गोवर्धन की लीला है प्रथम दिन है प्रथम दिन रहने के बाद दूसरे बिना सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास नंद बाबा से बोले है तेरो छुरा भगवान है का तो तो सो है तो उठा के रख दिया नंद बाबा ने चार ने जो पूरी जन्मपत्री पर भाई लेके खोल के भटक दी है देख लो चार ने कहिए ये भगवान ना है और नारायण के जैसी गुण जाके अंदर विद्यमान भागवत के पहले तो नामकरण संस्कार हो तो ना बोले ना जाके अंदर नारायण के गुण भी विद्यमान है भगवान ना है ये है भगवान नहीं मानते नंद बाबा ये सोचा ये भगवान नहीं मानते ये ये मानो ये है ऐश्वर्य ये गंगा देखो चार तरीके की लीलाएं हैं चार तरीके की लीलाएं याद रखना इसे एक ऐश्वर्य लीला एक ऐश्वर्य माधुर्य लीला एक माधुर्य ऐश्वर्य लीला और एक माधुर्य लीला ऐश्वर्य लीला भगवान द्वारकाधीश द्वारका के अंदर ऐश्वर्य है राजा बने हुए हैं सब ईश्वर में काम चल रहा है सब उनकी दास दासियां हैं सब उनका ठेला वाला ईश्वर का ईश्वर में माधुर्य ये वसुदेव तो देवकी का था जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनकी लाला की स्थिति ना करी भगवान की स्थिति करी भगवान पहले प्रकट हुए ना चतुर्भुजधारी उस जेल के अंदर चतुर्भुजधारी कारावास के अंदर होता हुआ प्रकट हुआ वो तो हाथ जोड़ के बहुत भैया बच्चा बन जाओ समाज में अच्छा तो ईश्वर पहले है वसुदेव ने ऐश्वर्य देखा देवकी ने ऐश्वर्य देखा आदि में बाल भाव ये भगवान हमारा बालक है यह बात तो भगवान पहले था बच्चा बाद में तीसरा था माधुर्य ऐश्वर्य ये नंद बाबा यशोदा का भाव ये हमारा बच्चा है हाँ ये नहीं तो भगवान भी है माधुर्य पहले हो नहीं है चौथो तो भाव जो है बड़े वृंदावन को पहला भाव द्वारका पहुंचाएगा दूसरा भाव मथुरा पहुंचाएगा तीसरा वाला भाव गोकुल पहुंचाएगा चौथा वाला जो माधुर्य है अरे बोलो कहीं को ये तो नंदो को छोड़ा है जाए देखो कन्हैया ने पूरी गीता के अंदर मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो एक पूरी गीता पढ़ने की किसी को कुछ मत मानो बस मेरी पूजा करो अपना स्वामी को देखा है गोपियन के सामने जब आ जाते हो और गोपियन से कहते हो हम भगवान है हमारी पूजा करो भगवान को भगवान ही ना मानो कन्हैया को कन्हैया ना बोलती नंद के लाला होती तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है तू तो है तो नंद बाबा को छोड़ा है तेरी वजह से चले जाते यानी कि अभी नाक काट दिया अगर किसी आदमी को नाम आनंद होए और बाकी पिता को नाम समझ लो अनूप होए और तुम बात छोरा से कहो हे अनूप के अरे जो गाली है कह के तो देखो आप अगर से बात करें हमारे पिताजी का नाम ऐसे देखो और तुम यहाँ का मत कहो नंद के लाला की भगवान गाली दे रहे बिन मांगे दियो ना जाई जब मांगत गाली खाई जब तक गोपियों के पास पहुंचे दे दे गई ऐसे दे देगी मांग दे देगी दही खिला देगी महाराज तो दियो ना जाई बिन मांगे दियो ना जाई जब मांगो गाली खाई है लगेगी तुम्हें सिर जा ये मांगो नहीं है यहाँ ईश्वर का भाव नहीं है ईश्वर शून्य का है आपको वृंदावन चाहिए आपको श्री बरसाना रामचंद्र राजीव हुई श्री राधा के संग रहे कृष्ण चाहिए तो वह माधुर्य भाव में प्राप्त होंगे उस माधुर्य भाव में भी यहाँ किसी भी पुरुष का कमी छोड़ देते हैं यहाँ दो रूप में ही आ सकते हैं बढ़िया नंद भगवान के बोलो तो एक नारायण जी जैसे बढ़िया में तो नारायण को पूरे संसार में उठा के रखे तो मेरे बाकी जो तो नारायण के गुण मेरे लाला में तुम्हारे पहाड़ उठाती हो तो वसुदेवा के बाद नहीं लगाते हो पूजा करने के नहीं नंद बाबा हमारे दिल के टूटा है बड़े बड़े नेता है हमारे मुसरा के पैर देने के नहीं करोड़ों लोग करोड़ों बांस से बांध देंगे नीचे रखेंगे तो नंद बाबा को कन्हैया छुड़ाने के नहीं पहुंचो बाबा की छाती तोड़ गई बाबा ने देखो बताओ कौन देवता जी का रोए मंदिर अरे मैं तो बाबा आप सबको तो देखो भैया ब्रह्म ब्रह्म है परमेश्वर है हाथ जोड़िए जी ने स्तुति करिए हाथ जोड़ जोड़ के बंधु बाबा आगे दिखाते है तो इस बंदे सोलह का गीता क्या है देवता हमारे सोलह देखो सौ दिन का उठा के रखा है राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठी है और देखो क्या लीला चल रही है भगवान श्री कृष्ण के सामने राधा रानी बैठी है भगवान श्री कृष्ण अभिनव जलधर धर सुंदर मंदरा श्री चंद्र चलो जय जय देव

परफेक्शन की कहां से आ रही है शिव चंद्र चकोर चकोर नाम का पक्षी जो महाराज श्री चंद्रमुखी को राधारानी उनके मुख से उस शक्ति को खींच रहा है और उस पहाड़ को उठाए हुए हैं और राधारानी क्या कर रही है अपने चरणों की तरफ देख रही है Thank you. जिनके प्रेम की प्राप्ति जिनके चरणों के अनुराग की प्राप्ति के लिए सभी भक्त मानते हैं कि कब कैसे भी करके चरणाश्रय प्राप्त हो जाए अरे हे कृष्ण मेरे इन पैरों के पीछे पड़ा रहता है मेरे इन पैरों का समर्थन करने के लिए लीला करता है ये चरण का ही बना हुआ है मेरे चरणों में ऐसा क्या है

तो तो करैया में तो सरोड़े भाका समाप्त होते होते भटके भटके पत्ता पे खुद हाँ, आगे हो गोपाल रूपने और अपना रूप नहीं लेकर दूसरे भगवत के अंदर आया ना कैसे रूप wonderful. जब से कलयुग की शांति हृदय में बट बट के पत्ताने लेके हुए है भगवान श्री कृष्ण कैसे रूप में है गोपाल रूप में क्या कर रहे हैं अपने पैर के अनुधा को चूस रहे हैं जहाँ देखने राधा जी को गाये हुए देखो तो भी ये मेरे चरणाश्रय ले लो चाहे चरण कमल बोले तो हो तो हो तो देखे कृष्ण 哎呀！ मांगने हैं समझ से मकरंद की प्राप्ति करने हैं मकरंद क्या है यही प्रेम मकरंद भी प्रेम नहीं मकरंद प्रेम नहीं है प्रेम के सिंधु के प्रेम का सिंधु उस सिंधु का सार जो है वह अनुराग और उस अनुराग की एक बूंद जो उस अल्लाह की जो एक बूंद है वह नफरत की या आरानी की उस तो पैर से निकली हुई एक बूंद के समान प्रेम सिंधु का साथ अनुराग वह अनुराग ही मकरंद के रूप में श्री राधारानी के पैरों से निकलता और उसकी भी उधर से अनंत अनुराग निकलता है उसकी भी एक प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की अर्चना अभिषेक पूजा संकट रहे श्री राधा पदांग मधुर स्थली महाराज राधा रानी का उनके चरणों का भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा ही उनके पैर श्री राधिके तद कदा चरणारविंदम गोविंद जीवंतम सिरसा ये चरण कमल कैसे हैं श्री गोविंद के जीवन धन हाँ? जीवन धनम सिरसा महामी हाँ? मैं गो के गोविंद के जीवन धन्य जो है और श्री राधिका के चरण उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते जीवन का यानी कि भगवान धनी तब होते हैं जब उनके पास चरणों का धनी प्राप्त तो आज की भी इस लीला को हम श्री राधा रानी के चरणों में ही समर्पित करते हैं और तो राधा रानी से कहते हैं कि जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण को अपना चरण धनी देकर धनी बना दिया ठीक उसी प्रकार आप हम पर सब पर कृपा करिए और हमें भी उस धन की कुछ क्षण मूल्य देके वह के रसिक भक्त बना दीजिए कि हम भी आपकी कोई सहचरी कोई अनुचरी और कोई किंकरी बन के उस दिव्य वृंदावन के अंदर आपकी आपका सेवा सौभाग्य प्राप्त कर सके जय जय जय